कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी ये तीरगी जो मेरी जीस का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी अजब न था कि मैं बेगाना अलम रहकर अजब न था कि मैं बेगाना अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आंखें तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आंखें इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की तेरे लबों से हलावत के घूट पी लेता हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता मगर ये हो न सका मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले गुजर रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से मुहिब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं मुहिब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं हयात तो मौत के पुरहौल खारजारों से न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है